केन उपनिषद में द्वितीय खंड समाप्त हुआ ब्रह्म विद्या समाप्त होने के बाद ब्रह्म दुर्विज्ञ यत्न अधिक करने के लिए आदि साधन संपत्ति के लिए आगे उपदेश है नेदम यदिदम उपासते कह करके उपास्य ब्रह्म नहीं कहा गया तो उपास्य में अनादर उपासना कोई करे नहीं ये प्राप्त होने पर उपासना सगुण उपासना के लिए आगे मंत्र है जिन जिन्होंने सन्यास कर लिया विधिवत सन्यास में द्वैत मंत्र उपासना सब का त्याग किया जाता है आगे द्वैत चिंतन नहीं करना चाहिए अद्वैत चिंतन नहीं करना चाहिए जो श्रवण मनन नहीं कर पाते उनके लिए उपासना अहंग उपासना भेद उपासना नहीं है किंतु अन्यों के लिए उपासना आवश्यक है कर्म सेवा उपासना यज्ञ दान तप सब ज्ञान का साधन है उपासना व्यर्थ नहीं है पारमार्थिक अद्वैत है व्यावहारिक जीव ईश्वर का भेद है जीव उपासक ईश्वर उपास्य ईश्वर कृपा गिर कृपा शास्त्र कृपा के बिना साक्षात्कार नहीं हो सकता है इसलिए उपासना सेवा अवश्य आवश्यक है साधक को इसलिए आगे भी वही स्पष्ट उपासना विधान के लिए आगे कहां से चलेगा भाष्य में तृतीय नेदम यदि तम उपासते उपास्यत्वम ब्रह्मण उपास्य ब्रह्म नहीं जो उपास्य वो ब्रह्म नहीं है अपन निराकरण किया गया अनु अपोदितत्वात् ब्रह्म में अपोदितम उपास्यत्वम उपास्य का उपास्यता का निषेध किया गया अपवाद किया गया अपवाद होने से निषेध होने से अनुपास्यते प्राप्ते उपास्य प्राप्त नहीं उपास्य नहीं होगा इसलिए तस्यैव ब्रह्मण सगुणत्वेन अधिदेवम अध्यात्म च उपासनम विधातव्यम वही ब्रह्म का उपासना विधान करना है सगुण रूप से देवता में समष्टि रूप से अध्यात्म देह में भी उपासना विधान करने के लिए आगे इतेवम वा इसके लिए आगे ग्रंथ है इति अधिदेवतम तद्वनम इति वक्षति क्योंकि आगे कहेंगे तद्वनम उसका नाम कहा रहस्य नाम ब्रह्म का तद्वनम वनम संभजने धातु से तो तद्वनम नाम इति उपासितव्यम समष्टि रूप से तद्वन नाम से उपासना करना चाहिए आगे कहेंगे आगे यहां तक टीका है संग्रहितम विवृणति अंत तक हो गया था अभिप्रांतरम आख्यायिका है संग्रहति सगुण सगुण ब्रह्म उपासना के लिए इसकी व्याख्या हो गई आगे कृष्ण आख्यायिकाया तात्पर्य मुक्तवा ब्रह्म शब्दार्थ माह संपूर्ण आख्यायिका का तात्पर्य कहा गया कह करके अभी ब्रह्म ह देवेभ्य विजिज्ञे ब्रह्म शब्दाया ब्रह्म शब्दार्थ माह ब्रह्म शब्द का अर्थ भाष्य में कहते हैं ब्रह्मेति परो लिंगात ये ब्रह्म पर क्योंकि लिंग ज्ञापक शब्द है ये संग्रह वाक्य हुआ एतद व्याख्याति इसका व्याख्यान आगे नहीं अन्यत्र परादिश्वरात नित्य सर्वज्ञात परिभूय अग्नि आदि स्त्रीणम कर्तुम सामर्थ्यमस्ति ईश्वराद पराद ईश्वरान अन्यत्र जो नित्य सर्वज्ञ है ईश्वर है परमात्मा उनसे भिन्न में अन्यत्र अन्य किस में ऐसे सामर्थ्य नहीं है क्या सामर्थ्य अग्नि आदि ने परिभूय तृणम वज्री कर तुम तृण को वज्र कर दिया अग्नि आदि को परास्त करके अग्नि हतबल हो गई अग्नि देवता जला नहीं सके वायु उड़ा नहीं सका ऐसे सामर्थ्य ईश्वर के बिना अन्य किसी में नहीं है जो नित्य सर्वज्ञ है परमात्मा उससे बिना अन्य किसी में सामर्थ्य नहीं यहाँ ब्रह्म उनको इस तृण सामने रख रखा इसको जला उड़ा लो नहीं जला सके अग्नि नहीं उड़ा सके वायु देवता इसलिए तृण को वज्र करने के लिए सामर्थ्य जो आगे है ग्रंथ में वो तो परमात्मा ही संभव अन्य में नहीं है इसलिए ब्रह्म शब्द से परमात्मा लेना है तन्न शशाक दग्धम इत्यादि लिंगात ब्रह्म सदवाच्य ईश्वरित अवश्यते तन्न शशाक दग्धम तत्रिणम अग्नि देवता दग्धम न ससाक दहन करने के समर्थ नहीं हो पाए अग्नि इत्यादि लिंग ज्ञापक शब्द इससे से सिद्ध होता है ब्रह्म शब्द का अर्थ है ईश्वर ब्रह्म शब्द वाच्य ईश्वर ईश्वर है माया विशिष्ट चेतन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ब्रह्म शब्द का वाच्य अर्थ है सर्वत्र ब्रह्म शब्द का अर्थ शब्द का ईश्वर शब्द का वाच्यार्थ है माया विशिष्ट चेतन ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान अहम ब्रह्मास्मि इस वाक्य में भी तत्त्वमसि वाक्य में भी तत्सद ब्रह्म सद का अर्थ ईश्वर है वाच्यार्थ और अहम ब्रह्म इस अहम के साथ ब्रह्म की एकता के लिए वाच्यार्थ में तो भेद है वाच्यार्थ है सर्वज्ञ ईश्वर है जीव अल्पज्ञ है वाच्यार्थ में ईश्वर है इसलिए लक्षणा करनी पड़ती है के लक्षणा से उपाधि का धर्म उपाधि को निराकरण कर देंगे शुद्ध चेतन एक ही है इसे लक्ष्यार्थ ब्रह्म है नहीं तो ब्रह्म सत्य का वाचार्थ ईश्वर इति अवश्यते निश्चयते निश्चय किया जाता है नय अन्यथा अग्नि दग्ध दग्धनोत्सहते वायर तुम ये ब्रह्म का शब्द अर्थ ईश्वर नहीं करेंगे ईश्वर के बिना अन्य कोई ऐसा नहीं कर सकता है अग्नि ईश्वर की इच्छा से ईश्वर उसको वज्र कर दिया ईश्वर ने तो अग्नि तृण को दहन नहीं कर सका वायु उड़ा कर नहीं ले सका ऐसे के बिना अग्नि तृणम दग्ध न सहते अग्नि तृण को दहन नहीं कर सकती ये तो बात नहीं वायु बाधा तुम वायु उड़ा कर नहीं ले सकता है सब उड़ा कर ले लेता है तो ईश्वर की इच्छा से उसको तृण को ऐसे वज्र जैसे कर दिया अग्नि दहर नहीं कर पाया वायु उड़ा नहीं सका ईश्वर इच्छा तृणमपि वज्र वज्र भवति इति उपपद्यते ईश्वर की इच्छा से तृण भी वज्र हो जाएगा ये संभव है टीका में कथन तर ईश्वर सिद्धि रीति आकांक्षाया माह ईश्वर की सिद्धि ईश्वर का निश्चय कैसे होगा ईश्वर हे करके इति आकांक्षा आने पर कहते हैं जगत जगतो नियत प्रवृते है ये संग्रह वाक्य तसे ईश्वर से सिद्धि जगत नियत प्रवृत्ति जगत की जो प्रवृत्ति होती नियत प्रवृत्ति निश्चित प्रवृत्ति अनियत नहीं नियत प्रवृत्ति नियत प्रवृत्ति है तो कोई नियामक है नियामक को कोई नहीं रहेगा तो नियत प्रवृत्ति नहीं होती है नियता प्रवृत्ति नियताच स प्रवृत्ति चैते नियत प्रवृत्ति जगत की जो नियत प्रवृत्ति नियत प्रवृत्ति है ठीक प्रातः काल सूर्योदय शाम को सूर्यास्त और ग्रीष्म वर्षा शरत ऋतु ऋतु के अनुसार फल पुष्पाना सृष्टि स्थिति प्रलय ये सब नियत प्रवृत्ति होती जगत की इसी से सिद्ध होता कोई नियामक है टीका में नन श्रुत्यादि विरेव ईश्वर सिद्धे किमिति जगत नियत प्रवृत्ति लिंग का अनुमानम सूत्रितम तत्रह ये तो हो गया संग्रह वाक्य सूत्र है तसिद्धिर जगत नियत प्रवृत्ति है ये केन उपनिषद का वाक्य भाष्य भगवान ने भाष्यकार ने पदभाष्य रचना के बाद वाक्य भाष्य की रचना की अलग से अन्य किसी उपनिषद में से दो भाष्य नहीं है केवल केन उपनिषद दो भाष्य पद पद की व्याख्या पदभाष्य सब उपनिषद पर है दस उपनिषद पर और केन उपनिषद में एक अधिक है वाक्य भाष्य ये कारण है इतने आवश्यक अच्छे उपनिषद अच्छे होने पर भी इसका विचार ब्रह्मसूत्र में कोई वाक्य को लेकर के विचार नहीं किया गया ब्रह्मसूत्र में सूत्र रूप से बहुत उपनिषद का वाक्य लेकर विचार किया गया इसलिए भगवान भाष्यकार ने पदभाष्य रचना के पश्चात उनको संतोष नहीं हुआ अलग से वाक्य भाषा की रचना की जैसे ब्रह्मसूत्र में सूत्र बनाया व्यास जी ने ऐसे भाष्यकार भगवान ने ऐसे सूत्र जैसे बना करके उसकी व्याख्या स्वयं उन्होंने की उस सूत्र रूप से उसको सूत्र है संग्रह संक्षेप व्यास सूत्र और व्यास होता है विस्तार सूत्र रूप से संग्रह सूत्र कहा गया जैसे ब्रह्म सूत्र में सूत्र सूचक है यहाँ भी इस पर संग्रह सूत्र जैसे संग्रह वाक्य बना करके उसकी व्याख्या स्वयं भाषिका ने की तत्सिद्धिर जगतो नियत प्रवृत्ति सूत्र है इसके ऊपर शंका करते हैं श्रुति प्रमाण आदि से स्मृति प्रमाण लोक में प्रसिद्ध है ईश्वर तो निश्चित के फिर जगत की नियत प्रवृत्ति से क्यों अनुमान करते नियत प्रवृत्ति लिंग का अनुमानम नियत प्रवृत्ति लिंगम यस्य अनुमानस्य नियत प्रवृत्ति लिंग हेतु जैसे धूम को लिंग बना करके बनि साध्य करते पर्वत अज्ञान अज्ञात बनने की सिद्धि होती है जगत की नियत प्रवृत्ति को लिंग बना करके अनुमान से ईश्वर की सिद्धि अनुमान प्रमाण क्यों देते श्रुति प्रमाण स्मृति प्रमाण है लोक प्रसिद्ध है ऐसा संकहन से कहते भाष्य में श्रुति स्मृति प्रसिद्धि वीर नित्य सर्व विज्ञान ईश्वरे सर्वात्मनि सर्वशक्तु सिद्धेपि शास्त्रार्थ निश्चयार्थम उच्यते इसके उत्तर देते हैं ये ठीक है मानते हैं श्रुति स्मृति और प्रसिद्धि से ईश्वर सिद्ध है श्रुति में है श्रुति में यह सर्वज्ञ सर्वविद स्मृति में बहुत है ईश्वर के लिए और प्रसिद्धि भी तीनों श्रुति स्मृति प्रसिद्धि लोक प्रसिद्ध ईश्वर है भगवान कोई किसी शब्द से कहता है कोई किसी शब्द से कहता है किंतु कोई एक नियामक मानते हैं नित्य सर्वविज्ञान ईश्वर और ईश्वर को जो माने नित्य होना चाहिए अनित्य होगा तो क्या ईश्वर होगा स्वयं अपनी रक्षा जो नहीं करेगा दूसरे जगत की क्या रक्षा करेगा उत्पत्ति सृष्टि पर क्या करेगा सृष्टि करता सृष्टि के पहले था प्रलय के बाद रहेगा तभी तो ईश्वर होगा तो नित्य होगा ना चाहिए और सब प्राणियों को कर्म फल देना कहाँ किस प्रकार कर्म होता है किस समय कई कहाँ मरेंगे कहाँ वन्या वात्या कहीं कुछ होता है किस कर्म का फल क्या है किसको कहाँ मिलेगा कब मिलेगा ये सब विज्ञान होना चाहिए सर्व विज्ञान सर्व सर्वम सर्वस्य विज्ञानमस्य सर्व विषय के विज्ञान वाला सर्वज्ञ ईश्वर ये सिद्ध है ईश्वर ऐसे ईश्वर नहीं कि कोई दूसरे स्थान में वहां दूर में बैठा सबके अंदर बाहर है सबके अंतर्यामी रूप से स्थित है इसलिए अंदर कुछ सोचते हैं तो ईश्वर को मालूम है कोई कर्म क्या करता है ईश्वर जानते हैं बहुत सोते हैं कि, कि किसी को पता नहीं चला हमने इसे किया आपको पता चलने के पहले ईश्वर को पता है वो अंतर्यामी अंतर्यामी है दूसरे को कैसे पाना है ईश्वर सर्वम विषय दूसरे को ज्ञान हो तो भी क्या करेंगे कोई कुछ करता है तो इस दूसरे क्या कर सकता है जो करने वाले उनको ज्ञान है ईश्वर कर्म फल देने वाले सर्व सर्वात्मा ही सबका आत्मा है सबके अंदर बाहर है ईश्वर ईश्वर सर्वात्मा सर्वभूत सर्वभूतांतरात्मा है ईश्वर सर्वात्मा सर्वविज्ञान ये श्रुति स्मृति और प्रसिद्धि से निश्चित है और सर्वशक्ति भी है सबका ज्ञान हो किंतु शक्ति नहीं हो ज्ञान भी और शक्ति भी सर्वज्ञ सर्वशक्तो सर्वाशक्ति रस्य स सर्वशक्ति सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान हो तो सृष्टि स्थिति प्रलय करने के लिए समर्थ है नहीं तो कुछ नहीं कर सकते पाप कोई कर्म करता है दूसरे लोग कुछ नहीं कर सकते राजपुरुष भी कुछ नहीं कर सकते राजा की आज्ञा के बिना चोरी किया है पता चलता है तो भी तो उसको राजपुरुष नहीं कर पाएंगे वहां जा के न्यायालय में निश्चय होगा तभी दंड मिलेगा कभी-कभी चोरी चोरी चोरे न्यायालय देता चोरी नहीं किया तो मुक्त है और जिसने चोरी नहीं की न्यायालय उसको दंड दिया तो उसको लेकर फांसी चढ़ाओ तो ये कोई नहीं सर्वशक्ति होनी चाहिए शक्ति हो तो पाप कर्म करने वाले को फल दे सकता नहीं तो नहीं दे सकता है तो सर्वज्ञ सर्वशक्ति ईश्वर यह श्रुति स्मृति प्रमाण से सिद्ध लोक सिद्ध सब लोग मानते हैं बहुत लोग किस ना किसी प्रकार मानते हैं तो ये से सिद्धत है फिर अनुमान क्यों देते हैं शास्त्रार्थ निश्चयार्थ मुच्यते शास्त्र से अर्थस्य निश्चय शास्त्र का अर्थ शास्त्र का अर्थ कहते शास्त्र प्रतिपाद्य जो अर्थ शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ प्राप्त शास्त्र प्रतिपाद्य अर्थ शास्त्र का तात्पर्य जो ईश्वर में उसका निश्चय के लिए यह शास्त्र का अर्थ है यह शास्त्र का अर्थ शास्त्र प्रतिपाद्य ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान वही एक अद्वितीय तत्व है माया से ही सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होता है अद्वितीय तत्व ही पारमार्थिक सत्य उसको निश्चय के लिए ये अनुमान कहते हैं ठीक है हमें याव तर्केण संभव नान गृह्यते ताव शास्त्र प्रतिपन्नो ईश्वरो न निश्चयते अर्थवाद तो शंका प्रतिबंधात अतः शास्त्रार्थ से ईश्वर से निश्चयाय नियमाय सामान्यत दृष्टम अनुमानम शाखानुग्राहक शास्त्रानुग्राहक रूपम सूत्रेण उच्यते याव तर्केण संभव नान गृह्यते तर्क के द्वारा संभावना शास्त्र से श्रवण हुआ नेह नानास्ति किंचन ब्रह्मेव इदम सर्वम खलु इदम ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म है शास्त्र से सुन लिया सब ब्रह्म है और कुछ ब्रह्म में है नहीं नेह नानास्ति किंतु कैसे हो सकता है ऐसा आप दिखता है इतने प्रपंच दिखता है ब्रह्म में नहीं है ये कैसे होगा असंभव है शास्त्र में कहा गया तो हजाने पर हम तो जो अनुभव करते हैं नहीं कैसे नहीं तो अग्नि पकड़ते समय हाथ जल जाता अग्नि नहीं कैसे कहेंगे ब्रह्म से बिना कुछ नहीं ये कैसे हो सकता है ये असम असंभावना असंभावना की निवृत्ति के लिए एक संभावना संशय और संभावना में भेद है संशय है अस्ति नवा वन निर्माण नवा स्थान रूपा पुरुषवा वन अस्ति नवा पर्वत निर्माण नवा ये संशय है असंभावना में एक कोटि उत्कट हो जाता है उत्कट अन्यतर कोटि का संशय संभावना भाव अभाव दोनों को लेकर संशय हुआ वन्यमान हवा ये संशय वन्य हो सकती नहीं भी हो सकती किंतु जब एक कोटि उत्कट हो जाए उत्कट अन्यतर कोटि का संशय संभावना संशय में एक कोटि अन्यतर कोटि दूसरे में कोई एक कोटि वन्नी है अथवा नहीं है उत्कट अन्यतर कोटि का संशय इसका नाम संभावना एक कोटि उत्कट हो जाएगा हां वन्नी हो सकती है देखो धुआं निकला है वन्नी जरूर होगी चलो वन्नी चाहिए तो चलो अथवा जल पानी पीने की तृष्णा है तो पानी है अथवा नहीं वहां ये देखा पक्षी जाते उड़ते धोनी चाहिए हो होगी चलो संभावना करने पर जाते हैं एक गुट उत्कट हो गया पहले है अथवा नहीं है कोई कहता नहीं होगा क्यों जाना कोई कहता है हो सकता है आपस में विचार करते हैं आए पता नहीं है अथवा नहीं इतनी दूर क्या जाना फिर कहते नहीं नहीं कुछ संभावना है चलो देखो लोग जा रहे हैं बर्तन लेकर के पानी होगा ये संभावना बुद्धि होने पर प्रवृत्ति होती है तो एक गुट उत्कट हो गया जल हे करके इसी प्रकार ब्रह्म अद्वितीय है ये जगत मिथ्या है ये कैसे होगा संशय हुआ असंभव है ये सारे प्रपंच दिखता है वो मिथ्या नहीं है कैसे होगा तो इसे विचार करने पर फिर शास्त्र से तर्क से मनन करना पड़ता है तर्क के द्वारा निश्चय होता है देखो स्वप्न में तो सभी से दिखता है जगने का तो कुछ नहीं रहता है स्वप्न में तो पूरा प्रपंच दिखता है क्या नहीं दिखता स्वप्न में स्वप्न में कभी आकाश दिख सकता है पर्वत समुद्र झगड़ा पशु पक्षी सप्तनिमित्त जड़ चेतन सब दिखते हैं जगने के बाद क्या रहता है कोई सपने पर कुछ नहीं रहा तो दिखते समय सत्य लगता है सपने में अभिजेश जागृत में लगता है किंतु जगने पर देखते हमसे भिन्न कुछ नहीं है केवल देखने वाला रहा इसी प्रकार हो सकता है अभी भी ऐसा दिखता है भ्रांति के कारण सपने में नहीं लगता है हम सोए हुए उस समय लगता हम जगे हुए अभी जैसे लगता है सो को लगता है कि हम जगे हुए मिथ्या कैसे साफ हम देख रहे हैं तो सपने कोई सोता है सांप नहीं देखते झूठा झूठा ऐसा कहता है सपने देखते समय किसको लगता है कि सांप नहीं दिखता है ये झूठा जैसे लगता है कोई से कहता है बिल्कुल सांप है छलांग लगा कर पहाड़ को चढ़ जाता है उसमें छलांग लगा समुद्र में कभी आकाश में उड़ जाता है उस समय निश्चय रहता है कि हमें हमारे पास सामर्थ्य है इसी प्रकार हो सकता है ये जागृत प्रपंच मिथ्या ऐसे होने पर संभावना हुई तर्क से संभावना जब तो नहीं हो तब तो, शास्त्र से ज्ञात होने पर भी शास्त्र से ज्ञान है तत्वम से तुम ब्रह्म हो कैसे मैं ब्रह्म हूं मैं तो अल्पज्ञ अल्प सत्यमान ब्रह्म सर्वज्ञ व्यापक है एक कैसे होगा फिर उसका विचार करके उपाधि उपाधिकृत अंश उपाधिक ये सब छोड़ करके शुद्ध चैतन्य क्योंकि मैं शब्द का अर्थ पहले निश्चय करना पड़ेगा मैं कौन हूं मैं मैं कर देते हैं जो पूछे कौन है तो होता है नाम बता दिया मैं देवदत्त हूं तुम कौन हो मैं चैत्र हूँ अरे चैत्र तो तुम्हारा नाम है तुम कौन हो हाँ यही मैं हूँ देखा चाहती हो ये तुम्हारे छाती है तुम छाते हो क्या हे हाथ पैर सो देखा यही मैं हूँ तो ये तो सो हाथ पैर तुम शरीर शरीर हां शरीर नहीं फिर और क्या जो मैं बोल रहा हूँ बोल रहा है कौन बागिंदर तुम हो ऐसे ऐसे करे पर पता नहीं मैं कौन हूँ बहुत झगड़ा करते बहुत अपने अभिमान करते बहुत सर्व बहुत हम जानते हैं किंतु तुम कौन हो ये पता नहीं कोई सुन दे हां हम ब्रह्म है बस तुम कौन हो मैं ब्रह्म हूं ब्रह्म क्या है जगत का तुम जगत करता हो तुम ब्रह्म है जगत करता तुम ब्रह्म हो तुम्हारे पास क्या सामर्थ्य क्या ब्रह्म हो है हाँ, मैं शुद्ध चेतन शुद्ध चेतन कहाँ है <laughs> तुम शुद्ध चेतन शुद्ध चेतन बोलता है क्या बोले मैं शुद्ध चेतन है क्या ऐसे प्रश्न करके बड़े-बड़े अन्य विज्ञान ज्ञानी वाले को छोड़ो शास्त्र में जानने वाले भी दिमाग खराब हो जाएगा क्या है बड़े-बड़े व्याकरण न्याय मीमांसा पढ़ने वाले में शरीर में खुजलाहट होगा क्या है तुम कौन हो आत्मा है हाँ, आत्मा है आत्मा के विषय में बड़ा है उसमें झगड़ा ऐसा आपस में झगड़ा करेंगे कोई कहेगा अच्छा, छोटा अणु है कोई कहे देह के बराबर है कोई कहे व्यापक है इतने मालूम नहीं अभी तो झगड़ा खत्म नहीं हुआ तार्किक लोग आत्मा नायक लोग क्या कहेंगे आत्मा व्यापक आपके आत्मा कहाँ है सबके शरीर के अंदर भी है बाहर भी है और आपके शरीर में कितना आत्मा है सारे अनंत आत्मा सब आपके शरीर में तो फिर किस आत्मा का क्या आश्चर्य कौन उसको फिर विवाह करेगा आपका आत्मा सबके शरीर के अंदर है आपके शरीर में सबका आत्मा है तो ये शरीर आपका घर के निश्चय हुआ आप यदि सब घर में है और आपके घर में सब लोग है ये कहीं ये मकान मेरा क्या इस स्तर मेरा कैसे आपके साथ ये शरीर के साथ आपका क्या संबंध हुआ आप सबके शरीर में है और आपके शरीर में सबका आत्मा है तो आपका इस शरीर के साथ क्या संबंध है नायक नायक से पूछो <laughs> कहीं जिसके अदृश्य से जो बना अदृश्य भी किसका कैसा निश्चय होगा अदृश्य तो सब के आत्मा में उत्पन्न होता है आत्मा तो सर्वत्र है बड़ा उसके ऊपर निश्चय करना फिर बड़े कठिन है ऐसे संभावना मैं कौन निश्चय नहीं तो मैं ब्रह्म कैसे निश्चय होगा ऐसे जो तुम कौन हो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों को जानने वाले तुम हो तो फिर थोड़ा सा समझ आएगा छात्र श्रवण करके मैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों को जानने वाला एक ही वही ब्रह्म है ऐसे ऐसे करने पर संभावना होने के बाद ही जो संशय दूर होता है तब निधि ध्यान होता है पहले शास्त्र का तात्पर्य निर्णय हो जाए श्रवण करके फिर असंभावना संशय रहता है उसकी निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए मनन संशय निवृत्ति के लिए मनन पहले श्रवण से प्रमाण संशय की निवृत्ति हो जाएगी शास्त्र तात्पर्य निर्णय हो गया शास्त्र तात्पर्य निर्णय होने पर भी संशय होता है ये कैसे हो सकता है ये सारे जगत मिथ्या ब्रह्म अद्वितीय कैसे होगा अब हाँ, ब्रह्म को यह मानेंगे बहुत लोग कहेंगे परमात्मा को तो मानते हैं किंतु अद्वितीय का अर्थ कोई क्या कहेंगे ब्रह्म अद्वितीय में तो क्या है ईश्वर एक दो चार पांच ईश्वर नहीं जैसे वृक्ष बहुत है जंगल में वे बहुत जीव साधु बहुत बैठे हैं इस पर ईश्वर बहुत नहीं एक ईश्वर है ये अद्वैत मत है क्या ईश्वर एक मानने वाले बहुत है किंतु ये नहीं ईश्वर एक मतलब अद्वितीय का था एकमेवाद्वितीयम उससे भिन्न कुछ भी नहीं स्वगत सजाते विजाते भेद रहित स्वगत भेद नहीं जैसे वृक्ष में स्वगत भेद पत्र पुष्प फल आदि भेद सजातीय भेद ने एक वृक्ष से दूसरा वृक्ष के भिन्न है एक ईश्वर से दूसरा आत्मा है ही नहीं विजातीय भेद भी नहीं ईश्वर है चेतन उसे बिना जड़ भी नहीं है सर्वम खरविदम ब्रह्म का तो ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं ऐसे कैसे निश्चय होगा यदि इतने निश्चय हो जाए ब्रह्म अद्वितीय एकमेव अद्वितीयम स्वगत सजात्य विजात्य भेद रहित एक ब्रह्म है तो ब्रह्म से भिन्न कितने पदार्थ हो रहेंगे जड़ तो अलग रह जाएंगे चेतन ब्रह्म है जड़ भी ब्रह्म होगा जड़ नाम को कोई वस्तु ही नहीं कोई भिन्न जो देख परमाणु अलग रख दिया ब्रह्म परिचय न हो जाएगा अनंतम ब्रह्म अंत होता परिच्छेद अपरिचिन्न देश परिचिन्न नहीं काल परिचिन्न नहीं वस्तु परिचिन्न नहीं देश परिचिन्न नहीं मतलब कहीं ब्रह्म है कहीं नहीं ऐसा नहीं सर्वत्र व्यापक काल परिचन्न नहीं कहा था ना उसकी उत्पत्ति ना उसका नाश तीनों काल में काल काल रहे नहीं रहे ब्रह्म हमेशा और वस्तु परिचन्न नहीं कहा था ब्रह्म से भिन्न कुछ भी वस्तु नहीं है ब्रह्म से भिन्न कुछ ही वस्तु मान लेंगे तो वस्तु परिचय हो जाएगा यही से ब्रह्म पहले निश्चय हो मैं ब्रह्म चिंतन पीछे करो पहले ब्रह्म ऐसे हो सकता है क्या एक अद्वितीय ब्रह्म कैसे हो सकता है उसे बिना कुछ नहीं जगत में मिथ्या तो निश्चय नहीं होगा तो ब्रह्म अद्वित ऐसा निश्चय होगा एक ब्रह्म दो तीन चार बार ब्रह्म नहीं कोई कहेंगे ब्रह्म एक है दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच नहीं एक है परमात्मा और बाकी जीव अनेक है जड़ अनेक है जीव जड़ सब मिल करके एक परमात्मा हो गया जैसे ईट पत्थर सब मिल करके मकान हो गया सीमेंट इसी पर एक परमात्मा उसमें कुछ चेतन कुछ जड़ कुछ पेड़ कुछ समुद्र सब मिल गया एक परमात्मा ऐसे परमात्मा सावैव सावय होगा तो न्याय के लोग छोड़ेंगे ना अनित्यम <laughs> जो तो सावय जो कल्पना करते अनित्य सावय तो घटवत सावय वस्तु तो कोई नित्य नहीं है नहीं देखा सकते कोई सावय नित्य हो सावय होगा तो अवयव से बनेगा अवयव उसका संभव का नष्ट हो जाएगा निरवय भी है साक्षी निरवय वे साक्षी केवल केवल कहा है और अकल अकल पुरुष का कला रहित अवयव रहित निष्कल निष्कल निष्क्रिय शांतम कला रहित अवयव रहित तो अकल निष्कल सदा है निरवय के लिए तो ब्रह्म अद्वितीय सिद्ध हो निश्चय पहले ये तर्क से संभावना शास्त्र से श्रवण करने के बाद फिर प्रमेय संशय की निवृत्ति के लिए मनन करना पड़ेगा मनन के तर्क से यावत तर्केण संभव नान तर्क के द्वारा संभव नहीं होता है न अनुग्रहत का तो न अनुभाव्यते संभावना का संभव यदि नहीं होता है संभाव संभव का अनुभव नहीं वहां संभव है ऐसे संभावना की बुद्धि हो जाए तब तो तावत शास्त्र प्रतिपन्न ईश्वर न निश्चयते शास्त्र से मालूम हो गया तुम ब्रह्म हो ये संभावना जब तक तो नहीं होती है निश्चय नहीं होगा मैं ब्रह्म शब्द से कोई भले कह दे बहुत लोग ये मनन नहीं कर पाने से आगे निदिध्यास नहीं कर पाते हैं कुछ लोग ऐसा सीधा माना करेंगे नहीं तर्क की आवश्यकता नहीं शब्द सुन लिया ज्ञान हो गया और क्या करना बाकी जा भी लोगे जा पास जाओ गुरु बन जाओ सीधा तो फिर क्या होगा मोक्ष मिल जाएगा ना बहुत बहुत तो बन जाएंगे रुपया इकट्ठे हो जाएगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा डर जाएंगे सब यमन तो डर जाएंगे अरे इसके पास इतने रुपया इतने भगत है डरेंगे ना यमन तो यम तो डरेंगे तो लोहे के लाठी फिर कहां प्रहार करेंगे लोहे की लाठी उसके के लोहा अग्निकुंड कोई डरेगा नहीं कुछ नहीं होगा इसलिए श्रवण के बाद मनन आवश्यक है जो लोग मनन के लिए मना करते तर्क के लिए खंडन करते तर्क से मनन होता है मनन के बिना प्रमेय संशय निवृत्त नहीं हो तो ध्यान नहीं होगा इसलिए श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य तीनों का श्रुतव्यो श्रुतव्य श्रुतिवाक्येभ्यो मंतव्यश्च उपपत्तिभिः मत्वा च सततं ध्येयम् एते दर्शन हेतव ध्येय एते दर्शन हेतव ये दर्शन साक्षात्कार हेतु तो श्रवण के बाद मनन आवश्यक जब तक मनन के द्वारा तर्क के द्वारा संभावना बुद्धि नहीं हो संभावना बुद्धि के बिना आगे निधि ध्यान नहीं साक्षात्कार नहीं हुआ किंतु संभव है स्वप्न प्रपंच के समान जागृत प्रपंच मिथ्या एक अद्वितीय तत्व स्वप्न का दृष्टा जो सुषुप्ति में जाता है जागृत में आता है वो तीन अवस्था से विलक्षण एक अद्वितीय तत्व है वही मैं हूँ ये संभव है क्योंकि मैं सुषुप्ति में था मैंने स्वप्न देखा मैं जागृत अवस्था में हूँ स्वप्न अवस्था में जाते समय जागृत प्रपंच साथ में नहीं रहता है सुषुप्ति में जाते समय जागृत प्रपंच स्वप्न प्रपंच साथ में नहीं रहते हैं किंतु हम रहते तो हम रहते तो मैं हमसे उससे भिन्न है ऐसे संभावना बुद्धि होने पर निश्चय होता है जब तक तो संभावना बुद्धि नहीं हो शास्त्र प्रतिपन्नोपि शास्त्र से ज्ञात हो गया कि ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान फिर भी न तो निश्चय नहीं होता है सृष्टि के पहले ईश्वर था कहाँ था फिर ये सब जब संशय पहले होता है ये सृष्टि के पहले एक ईश्वर था बच्चे पूछते कहाँ था ये पर्वत नहीं था पृथ्वी नहीं था समुद्र नहीं था पेड़ भी नहीं था तो कहाँ थे तो प्रलय काल में जल में थे प्रलय जल फिर कहाँ था सृष्टि के पहले कहते ना प्रलय काल में जल में भगवान कहीं बटपत्र में लेटे थे वो जल फिर कहाँ आया प्रलय जल भी कहाँ रहता था समुद्र था क्या सृष्टि के पहले समुद्र नहीं था अब पत्थर में नहीं था परमात्मा फिर कहाँ थे स्वर्ग में थे तो सृष्टि के पहले स्वर्ग था क्या वैकुंठ में थे वैकुंठ था क्या सारे ब्रह्मांड सृष्टि पहले परमात्मा कहाँ रहेंगे वो फिर परमात्मा कहाँ से आए उनके पिता माता कौन है उनका नाम क्या था किसने नामकरण किया तो ये फिर प्रश्न हो गया था तो ये निश्चय नहीं होता संशय करने पर बहुत है तो तर्क से सब संशय दूर होने पर निश्चय होता तभी आगे अहम अस्मि ब्रह्म निधि न प्रारंभ तभी होता है संशय निवृत्त होने के बाद जो मनन करके संशय निवृत्त नहीं होगे वो मान लेते हमको ज्ञान हो गया मान लेने से और अज्ञान रहेगा हैं मान लेने से चल जाते तो सब राष्ट्रपति बनकर बैठ जाते हैं मान ले हम राष्ट्रपति बस सब बन जाएंगे इसलिए तर्क यहाँ श्रुति स्मृति प्रसिद्धि से ईश्वर निश्चय होने पर भी शास्त्रार्थ निश्चय करने के लिए अर्थवाद तो शंका प्रतिबंधात अच्छा शास्त्र से जो ज्ञान हुआ वो क्यों निश्चय नहीं हुआ शास्त्र प्रमाण है श्रुति कहते तुम ब्रह्म हो श्रुति कहते नेह नानाति किंचन ब्रह्म में नाना है ही नहीं तो श्रुति प्रमाण प्रबल प्रमाण उससे क्यों ज्ञान नहीं होगा तो इसे कहते अर्थवाद तो शंका प्रतिबंधात शंका होगी ये हो सकता अर्थवाद ऐसा अर्थवाद वाक्य विषय में है कुछ नहीं कई कई कहते ईश्वर विषय शास्त्र कर्मे वे ईश्वर तुन स्तौति कर्म ही प्रधान मीमांसक लोग क्या कहें कर्म ही सब फल देने वाला कौन है कर्म पुण्य पाप कर्म ही फल देने वाला ईश्वर ईश्वर कहते ईश्वर क्या है ये कर्म को ईश्वर कहा गया कर्म ही फल देने वाला पुण्य पाप फल कर्म स्वर्ग नरक आदि प्राप्ति कर्म से होता है तो कर्म को ही बड़े कर्म में सामर्थ्य है और नरक भी भेज देता है स्वर्ग भी भेज देता है वही सब कुछ है वही मोक्ष देता है स्वर्ग है मोक्ष में स्वर्ग में गए मुक्त हो गए कम मीमांसा लोग मानते तो ईश्वर तो शब्द आया उसमें शंका क्या होगी ये अर्थवाद स्तुति कर्म की स्तुति के लिए इसको ईश्वर कह दिया ये अर्थवाद वाक्य अर्थवाद तो कहां क्योंकि लकड़ी के यूप बना कर कहते श्रुति कहते आदि तो यूप यूप जो लकड़ी को तुम बना, बनाते हो सूर्य है लकड़ी बनाने पर बड़े को लेकर लकड़ी बना देंगे इतने बड़ा वो सूर्य हो जाता है ना सूर्य हो जाएगा श्रुति दी सूर्य तो वहाँ अर्थवाद स्तुति के लिए कह दिया इसी प्रकार ईश्वर कह दिया कर्म को कर्म की स्तुति के लिए ईश्वर कह दिया कोई ईश्वर थोड़ी दूसरा है कर्म मीमांसा का लोग कहते ईश्वर नाम कोई दूसरा है ही नहीं कर्म से सब फल मिलेगा ईश्वर क्यों तो अर्थवादत्व की शंका होगी शंका होने से क्या होगा शास्त्रार्थ निश्चय तथा प्रतिबंध को हो गया प्रतिबंध होने से निश्चय नहीं होगा निश्चय होना था प्रतिबंध हो गया शंका से अर्थवादत्व शंका से प्रतिबंध होने से शास्त्रार्थ निश्चय नहीं होता है ईश्वर को ईश्वर प्रतिपाद्य है शास्त्र शास्त्र में तो भी निश्चय नहीं होता अतः शास्त्रार्थस्य ईश्वरस्य निश्चयाय नियमाय सामान्यत दृष्टम अनुमानम शास्त्रानुग्रहक रूपम सूत्रेण उच्यते शास्त्रार्थस्य शास्त्रार्थ कौन है शास्त्र प्रतिपाद्य शास्त्रार्थ शास्त्र का अर्थ शास्त्र प्रतिपाद्य क्या है ईश्वर अद्वितीय सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर जिस प्रकार ईश्वर शास्त्र का अर्थ उसका निश्चय आय ईश्वर का निश्चय करने के लिए निश्चय करने का अर्थ करते नियमाय नियमाय क्या है अयमेव शास्त्रार्थित एवं टिप्पणी में दिया यही शास्त्र का तात्पर्य है नियम के लिए यही शास्त्र का एक अद्वितीय सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर है ऐसा निश्चय करने के लिए इदे अयमेव शास्त्रार्थ यही शास्त्र का तात्पर्य जो ब्रह्मसूत्र में प्रथम अध्याय में आया समन्वय अध्याय में सर्वत्र ईश्वर एक अद्वितीय ब्रह्म कहा गया सारे सृष्टि वाक्यों का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म में वेदांत का समन्वय अद्वितीय ब्रह्म में श्रुति का तात्पर्य निश्चय होता है अयमेव ईश्वर यह निश्चय होने के लिए कब निश्चय होगा तर्क से अनुग्रह होने पर सात तात्पर्य निर्णय होने के बाद तर्क से मनन कर जब निश्चय हो जाएगा यही दृढ़ निश्चय हो जाएगा इसलिए नियमन करने के लिए अनुमान ईश्वर सिद्धि के लिए अनुमान शंका हुई थी तस्य सिद्धि जगत नियत प्रवृत्ते जगत की जो नियत प्रवृत्ति होती है उसके कारण उसे लिंग से ईश्वर की सिद्धि पूर्व पीछे ने कहा ईश्वर की सिद्धि श्रुति स्मृति प्रमाण से और लोक प्रसिद्ध भी है और अनुमान क्या जरूरत है कहते अनुमान से जब तक तर्क से निश्चय अनुमान से निश्चय नहीं होता है संभावना बुद्धि नहीं होती है तो असंभावना के के कारण संशय अर्थवाद तो की शंका होगी ये प्रतिबद्ध हो जाएगा शास्त्र का अर्थ निश्चय नहीं होगा शास्त्राभ्यंतर में दृढ़ निश्चय नहीं होगा आगे नहीं क्या करेगा वो संशय रहेगा और वही सोचता रहेगा क्या कहते कुछ नहीं है इसलिए अनुमान कहते अनुमान में सामान्यत दृष्टम अनुमानम सामान्यत दृष्ट अनुमान क्या है सामान्य और समानता से दिखा गया सामान्यता दृष्टम समान रूप से दिखा गया समान रूप से क्या है धूम है तो बन्नी है अरे बन्नी नहीं तो धूम नहीं धूम है तो अवश्य बन्नी है जहाँ बन्नी नहीं वहाँ धूम नहीं धूम में समानता क्या हुई बनी के साथ समानाधिकरण बन्नी है तो धूम है तो बन्नी है जहाँ बन्नी नहीं है वहाँ यदि धूम रह जाएगा तो क्या हुआ केवल हो गया सामान्य नहीं समानता नहीं हुई धूम है तो बनिए और बने नहीं धूम रह जाए तो केवल धूम हो गया ऐसा नहीं समान रूप से धूम है तो वन्य वन्य है तो धूम नहीं रहता है ये है कि अन्य व्यक्ति के अनुमान को सामान्यत दृष्ट कहा गया टीका में दिया टिप्पणी में सामान्यता का थी कैवल्य परिहारेण उभ विशिष्टतया दृष्टत्वात् कैवल्य परिहार कैवल्य अकेला नहीं दोनों उभय विशिष्ट वन्य के साथ है वन्य भाव के साथ धूम भाव है तो धूम में अन्वय व्याप्ति है और व्यत्र की व्याप्ति भी है धूम है तो वन्य है अन्वय व्याप्ति है और जहाँ वन्य नहीं वहाँ धूम नहीं उसको कहते व्यत्र व्याप्ति तो उभय विशिष्ट होकर के धरण से सामान्यतः दृष्टम अन्वय व्यत्र की उच्यते अलग-अलग प्रकार अन्वय अर्थ क्या है तो अन्वय व्यत्र का अनुमान कहते हैं और एक सामान्यतः दृष्ट है सामान्य देखा गया वास्यादि कुठारादि करण है करने तो उसको चलाने वाले कोई करता होता है वास्या वासुला में से लकड़ी तक्षक काट काटता है कुठार से छेदन करते हैं ये सब करने तो का कोई करता है यहाँ इंद्रिय चक्षुरादि इंद्रिय करण है तो उसका भी कोई करता होना चाहिए वो करता कौन है चेतन है आत्मा वो नहीं दिखा गया वहां तो दिखा गया सर बढ़े आदि यहाँ इंद्रिय भी प्रत्यक्ष नहीं होता है इंद्र ज्ञान से इंद्र का अनुमान करेंगे इंद्र से उसका कर्ता अनुमान करते जो कर्ता अन्यत्र नहीं दिखा गया असंग वह असंग कर्ता होता है तो ये सामान्य रूप से इंद्र है तो कोई उसका कर्ता होना चाहिए यहाँ भी चक्षुरादि इंद्र तो उसका कोई कर्ता है जब सब इंद्रिय मिलकर कार्य करते तो किसके लिए उपकार्य उपकारक है तो उपकार्य जिसका उपकार करते हैं कोई एक है ये भी सामान्य तो दृष्ट ऐसा भी विभिन्न प्रकार से किया तो अन्य की अनुमान अभी कहते हैं शास्त्रानुग्राहक रूपम सूत्रनुचते शास्त्र का अनुग्राहक हो गया अनुमान शास्त्र का अनुग्रह कैसे शास्त्र से प्रतिपाद्य अर्थ में दृढ़ निश्चय कराने वाला अनुग्राहक अनुग्रहजनक शास्त्र का तात्पर्य है एक अद्वितीय ब्रह्म ईश्वर है उसको अनुग्रह करने वाला अनुमान अनुमान से युक्त्या संभावितत्वानुसंधानम मननम युक्ति से संभव्य संभव है ये अनुमान से निश्चय शास्त्र से सुना फिर अनुमान होगा तो दृढ़ हो जाएगा आ कोई यथार्थ वक्ता कहा वहां आपको पानी पीना है उधर पानी है उधर चल जाओ विश्वास हो गया पानी उधर है किंतु तो पता नहीं पानी है अथवा नहीं फिर संदेह होता है कोई वहां बर्तन लेकर आता जा रहा है देख ले हां देखो बर्तन लेकर जा रहा है दौड़ के आ रहा है पानी होगा फिर आगे प्रभुत्व तो होती वन्नी को विधा वन्नी है दूसरा कहता पर्वत और वन्नी कहाँ मिलेगी वहाँ का वन्नी वहाँ का रसोई घर किसका है अब पर्वत गए थे वन्नी चाहिए वन्नी नहीं मिला कोई क्या उधर ही जाओ ऐसे देखते कहते कहते देखा धूम निकला फिर क्या होता है अनुमान हाँ धूम निकला वन्नी होगी पहले सुना विश्वास था फिर संदेह होता था अधूम निकला तो दृढ़ निश्चय हो गया शास्त्र तात्पर्य हुआ ज्ञान अनुमान के द्वारा निश्चय हो गया तो तात्पर्य निश्चय दृढ़ हो जाता है तो ये हो गया शास्त्र का अनुग्रह हो गया अनुमान शास्त्र अनुग्रह के रूपम सूत्रेण उच्यते सूत्र के द्वारा अनुमान कहते शास्त्र का अनुग्राहक तो अनुमान प्रमाण शास्त्र का अनुग्राहक रूप सूत्र में कहा गया भगवान भाष्यकार कहते हैं तो शास्त्र का अनुग्रह होगा दृढ़ निश्चय होगा अनुमान प्रमाण से इसलिए अनुमान प्रमाण तर्क में आएगा या नहीं तर्क के बिना अनुमान प्रमाण कैसे ज्ञान होगा बिल्कुल के तर्क जरूरत नहीं खंडन कर तर्क नहीं पढ़ना सीधा तर्क के बिना होगा तर्क आवश्यक तर्क केवल पढ़ने पर करती बात नहीं तर्क तो करना ही होता है जो लोग तर्क खंडन करना चाहते हैं वो उतने मालूम नहीं क्या कहते हैं मनुष्य केवल तर्क संग्रह पढ़ने के वाले तर्क करे नहीं तो तर्क नहीं करता है क्या हाँ तर्क संग्रह पढ़ने पर थोड़ा स्पष्ट होता है कैसे तर्क करना कैसे नहीं करना कौन सतर्क कौन असतर्क ये सब थोड़ा स्पष्ट होता है उसके बिना भी तर्क करते हैं होता है मनुष्य केवल नहीं पशु पक्षी भी तर्क अनुमान करते हैं अनुमान प्रमाण से नीचे होता है लाठी लेकर जाओ पशु दौड़ जाता है बंदर के पास जाओ लाठी लेकर भाग जाता है और फल के खिलाने के लेकर जाओ भाग जाता है आकर हाथ से छीन ले लेगा गाय घास पास लेकर जाओ गाय दौड़ कर आ जाएगी पास में लाठी लेकर जाओ तो भाग जाएगी तो वो क्या करते हैं अनुमान करते हैं लाठी लेकर जा से लाठी से लाठी पड़ा हुआ तो डरते हैं क्या लाठी दस बार वहां रखो बंदर उससे डरता है मनुष्य के पास लाठी रहता तो डरता है क्यों डरता है ये पिटाई करे पिटाई करे कैसे नीचे हुआ अनुमान और घास लेकर गया घास गया तो क्यों दे अब खिलाने गया ये अनुमान प्रमाण पशु पक्षी भी अनुमान प्रमाण से निश्चय करते हैं वो बाहर बैठकर भोजन करते कौवा आकर परेशान करते हैं कहा को हटाने के लिए ऐसे करके कुछ वस्तु इसे फेंक देंगे तो तुरंत भाग जाएगा कभी कुछ नहीं हाथ से ऐसे करेंगे तो नहीं भागेगा <laughs> देखा खाली और देखता खाली हाथ है ऐसे कर ऐसे कर दिया तो देखता कुछ नहीं और इसको कोई उठाए तो भाग जाएगा और देखता है कि इसको पकड़ा फेंकेगा और खाली हाथ कैसे कर देंगे तो वो जानता हाथ में कुछ नहीं भागेगा अब आपने देखा है कुछ इसको उठाया चम्मच पकड़ा पकड़ा दिया भाग जाएगा और कुछ नहीं करे ऐसे करेंगे वो और पास पास आता है अनुमान प्रमाण सब का आवश्यक सब करते हैं बच्चे भी करते हैं छोटे बच्चे भी अनुमान प्रमाण से तनच पान करता है चूसता है कैसे चूसेगा ऐसे प्रकार से बहुत प्रकार आपके पास आएगा फल कैसे खाओगे अनुमान प्रमाण नहीं करो तो प्रत्यक्ष मीठा है दिखता है क्या फल है देखा बहुत सुंदर फल है बहुत मीठा देखने से बताता होता है हाँ यही से फल काल खाया था वैसे दशहरे ऐसा हम है ये जरूर मीठा हुआ क्या दो फल एक पेट से पेट से निकला ये खाया था मीठा ये जरूर मीठा होगा कैसे मीठा प्रत्यक्ष होता है एक पेड़ से दो फल तोड़ा एक खाया बहुत मीठा दूसरे फल खाओगे मीठा लगेगा करेगी या संशय कटाए मीठा बोलो दो फल तोड़ा दोनों पका हुआ है एक खाया बहुत मीठा और दूसरे फल खट्टा है या मीठा है संशय होता है ऐसा होता है वह मीठा है कैसे निश्चय हुआ मीठा है अभी तक खाया नहीं प्रत्यक्ष हो गया मीठा एक फल में प्रत्यक्ष हुआ दूसरे फल में मीठा प्रत्यक्ष हुआ क्या किंतु आपको निश्चय ये मीठा है निश्चय ना नहीं रखते बहुत मीठा है दूसरे को देवो तक तो बहुत मीठा है मैंने खाया तुमने तो खाया दूसरे फल ये तो अलग फल है वो अनुमान नहीं है उसी पेड़ का पेड़ का एक पेड़ का एक फल मीठा है तो दूसरे पेड़ भी उस दूसरे फल भी उसी वृक्ष का उनसे मीठा होगा ये अनुमान है प्रत्यक्ष नहीं हुआ प्रत्यक्ष एक में हुआ इसे मधुर हुआ वो सजातीय एक समान वृक्ष का ही फल है ये भी मधुर होगा ये अनुमान है अनुमान करने के कोई तर्क संग्रह पढ़ना पड़ेगा ये पांच वाक्य बोलने को तो होगा नहीं लोक में प्रसिद्ध है तो इसलिए अनुमान के प्रमाण है आवश्यक है शास्त्रार्थ निश्चय करने के लिए भी अनुमान की आवश्यकता है तर्क आवश्यक है तर्क से ही मनन करने पर संशय दूर होता है तब निधिध्यासन होता है अब ये सूत्र हो गया संग्रह वाक्य ईश्वर सिद्धि के लिए ये वाक्य क्या हुआ तस्य सिद्धिर जगत्व नियत प्रवृत्ते है ये सूत्र है ईश्वर की सिद्धि ये तो बीच में क्यों कहा करके उसके बताया अभी संग्रह वाक्य की व्याख्या तस्सिद्धिर जगत्व नियत प्रवृत्ते है ये संग्रह वाक्य है टीका में दिया एतद् व्याख्यादि एतदिति किम संग्रह वाक्यम सूत्रम सूत्र की व्याख्या करते हैं तस्य सिद्धि तस्य ईश्वरस्य सद्भाव सिद्धि तस्य इति कस्य हाँ, सिद्धि के कस्य सिद्धि सद्भाव ईश्वर के सद्भाव की सिद्धि कुतो भवति इति उच्यते ईश्वर हे ईश्वर का सिद्धि होती ईश्वर का निश्चय ईश्वर का निश्चय क्या सद्रूप है असद्रूप बंध्यापुत्र का निश्चय होगा असद्रूप है बंध्यापुत्र असत है ना नहीं बंध्यापुत्र असत है इसी प्रकार ईश्वर असत ऐसा निश्चय करना ऐसे सद्भाव सिद्धि ईश्वर से सिद्धि सद्रूपेण सद्भावेन सद्रूपेण सदैव सम्मेदम ग्रासिति सद्भाव सिद्धि सद्भाव सत्ता ईश्वर की सिद्धि कुत भवति इति उच्यते कहां कैसे होता है यदिदम जगत अभी अनुमान प्रमाण देते हैं यदिदम जगत देव गंधर्व अक्षर यक्ष रक्ष पितृ पिशाच आदि लक्षणम द्यो वियत पृथ्व्यादित्य चंद्र ग्रह नक्षत्र विचित्रम विविध प्राणी उपभोग योग्य स्थान साधन संबंधी तद अत्यंत कुशल शिल्पी वीर अपि दुर्निर्माणम यहाँ तक पक्ष है ये जगत यदिदम जगत जगत नियत प्रवृत्ति है ना तस्य सिद्धि जगत नियत प्रवृत्ति जगत तो नियत जगत क्या है ये पूरा इतने जगत नियत प्रवृत्तियां कहेंगे ये देश का जगत के कैसे यहाँ तक पक्ष हो गया अत्यंत कुशल से पिरवे दुर्निर्माणम आगे देश काल निमित्त अनुरूप नियत प्रवृत्ति निमित्त क्रमम यहाँ तक आ जाएगा पक्ष यहाँ तक आ जाएगा देश काल निमित्त अनुरूप नियत प्रवृत्ति निवृत्ति क्रमम यहाँ तक पक्ष इतने बड़े वहाँ से किसी पर्वत वन्यमान पक्ष क्या है हाँ यहाँ एक पद से नहीं वहाँ से जगत है पक्ष जगत कौन है पूरा जगत लेकर जगत की नियत प्रवृत्ति निमित्त क्रमम आगे साध्य एतद भुक्तृ कर्म विभाग्यं प्रयत्न पूर्वकम साध्य हो गया भवित मारति भोक्ति कर्म विभाग प्रयत्न पूर्वक तो होना चाहिए हेतु क्या है कार्यत्व सत यथोत लक्षणत्वात् ये हेतु ये धूम धूमवत्वात् दृष्टांत देते महान शब्द यहाँ गृह प्रसाद प्रासाद रथ सहनासनाधिवत यहाँ तो दृष्टांत हो गया और यह यत्र नास्ती तत्र धूम नास्ती यथा जलर्द इसी वजह यहाँ साध्य नहीं वहाँ हेतु नहीं रहेगा विपक्ष आत्मा अधिवत आत्मा में साध्य नहीं हेतु भी नहीं है की दृष्टांत दे दिया अन्य दृष्टांत दे दिया अन्य व्यतिरेक अनुमान इसलिए अनुमान का पर्वत वनिमान धूमवत्वा यत्र धूमस्त तत्र बनी यथा मानसम यत्र वनि नास्ति तत्र धूमपि नास्ति यथा हृद दो इसमें सब आ गया पक्ष साध्य प्रतिवाक्य हेतु उदाहरण उदाहरण में एक अन्य दृष्टांत एक व्यक्ति की दृष्टांत यह अनुमान क्या है यह पक्ष का पहले ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए यदि इदम जगत <clears throat> यहाँ से इदम जगत ले लिया पक्ष यदि इदम जगत किसको जगत शब्द लेना जगत क्या है जगत जगत कहते जगत क्या चीज है ऐसे में क्या क्या है देव गंधर्व यक्ष रक्ष पितृ पिशाच आदि लक्षणम देवता भी है गंधर्व है यक्ष है राक्षस है पितृलोक है पिशाच भूत प्रेत पेड़ पौधे सब कुछ है दियो वियत आदित्य चंद्र ग्रह नक्षत्र विचित्रम दियो स्वर्ग वियत आकाश पृथ्वी उसमें आदित्य चंद्र ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र ग्रह सब है नक्षत्र कितने नक्षत्र है ये तो 27 नक्षत्र कहते हैं यहाँ अगर आकाश में देख कितने सब कितने दूर में है मालूम है दो चार पाँच दस मैले है या अधिक है और कितने बड़े मालूम है ये जो नक्षत्र छोटे-छोटे दिखते हैं कितने बड़े उसमें से एक इधर आ जाएगा तो सारा पृथ्वी भस्म हो जाएगा इतने बड़े-बड़े हैं कितने दूर में और जितने दिखते हैं उससे भी और बहुत है सब नहीं दिखते हैं रात में आपको दिखेंगे तो कुछ स्थान में दिखते हैं और विपरीत स्थान भी है अवतान में भी आकाश कितने बड़ा है और जो दिखता है और भी कितने दूर पर है क्या-क्या नक्षत्र है ये कितने हैं बहुत और विचार करते और कितने तो जो दिखते हैं वहां तो कोई पहुंच जाएगा कि आगे आकाश खत्म तो रहेगा खत्म हो जाएगा बहुत लोग कहते भाई विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया सब लोग कहाँ पहुंच गए तुम लोग क्या बढ़कर घटपट करते हो इससे क्या मिलेगा विज्ञान कितना आगे पहुंच गया बड़े-बड़े विज्ञान वैज्ञानिक लोग जहाँ सुनते कभी गीता सुन रहे थे प्रवचन बड़े-बड़े विज्ञान गणित विज्ञान पढ़ने वाले पढ़ाने वाले बड़े-बड़े तो वैज्ञानिक लोग बहुत आगे पहुंच गए हाँ, मैंने पूछा बहुत आगे पहुंच गए जब जितने तक ये आकाश में सब का ज्ञान हो गया और कितने दूर जाएंगे तो आकाश समाप्त हो जाए कितने प्रतिशत का ज्ञान हो गया वैज्ञानिक लोगों को जितने बड़ा आकाश है उसमें से कितने प्रतिशत का ज्ञान हो गया वैज्ञानिकों को थोड़ी देर चुप हो गए बड़े गणितज्ञ जो बड़े थे वो बताए एक प्रतिशत मैं क्या गणित तो पढ़ने वाला है नहीं कह सकता है <laughs> वो गणित के बड़े रेखे से एक प्रतिशत मतलब उसका सौ गुना चल जाएंगे तो आकाश समाप्त हो जाएगा फिर खुजलाहट फिर हो जाए अरे ये तो नहीं हो फिर क्या है कितने सो कहते सुनो सो में सुन सो में सुन मतलब कुछ नहीं है जीरो प्रतिशत परसेंट एक बताओ कितने जितने तक अभी वैज्ञानिक लोग को मालूम हो गया उसके कितने दूर जाने के बाद आकाश समाप्त हो जाएगा सो हजार कर, लाख करोड़ दस करोड़ सौ करोड़ कितने करोड़ जब दूर जाने के बाद आकाश समाप्त हो जाएगा पूछो बताएंगे गणित लोग गणित क्या नहीं कह सकते उसके हिसाब से जानते क्या जान लिया कितने दूर बाकी है ग्रह नक्षत्र दिखता है कभी आकाश को देखकर थोड़ा सोचो कितने दूर में नक्षत्र है कितने बड़ा है उसके आगे फिर क्या है बहुत दूर में होने से छोटा-छोटा दिखता है वैज्ञानिक लोग बताते बहुत बड़े-बड़े सूर्य जितने बड़े उससे करोड़ करोड़ बड़ा ये नक्षत्र दिखते चलो ठीक है जहां तो दिखता है उसके आगे क्या है वहां तक तो पहुंच जाए तो आगे फिर कुछ नक्षत्र होंगे या नहीं होंगे क्या ये सूर्य को हम बड़ा मानकर बैठे सूर्य से बड़े-बड़े कितने बड़े-बड़े है और आगे और आगे आगे क्या है तो ये जो जगत है इसी जगत को पक्ष बना करके अनुमान सिद्ध करना इसको बनाने वाला कैसे होगा इसे बनाने वाला ये से इसलिए जगत का विशेषण दिया कैसे जगत है दिव वियत पृथ्वी आदित्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि विचित्र उसके बाद और भी है हाँ, ये इसके पक्ष को पहले समझ ले तो पूरा जगत को समझ लेना है ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि